अब हम आपसे पूछते हैं कि आप जिस ईश्वर को जानते या मानते हैं उसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है कि तो असंग दृष्टा के विज्ञान से तो जिसका भी दृष्टा है वो तो अलग चीज रह जाएगी उसका विज्ञान अलग होगा दृश्य का विज्ञान अलग होगा दृष्टा का विज्ञान अलग होगा वो तो बिल्कुल देश का विज्ञान होगा और देश की प्रतिज्ञा ये है देश की प्रतिज्ञा ये है कि एक ही वस्तु हो और उसी के विज्ञान से उसी के अनुभव से सबका अनुभव हो जाता है अब लोग ये अद्भुत है आप लोग ये मत समझना कि स्वामी जी किसी मजहब पर या किसी के सिरके पर कोई आक्षेप करते हैं ये बात मत देना हमारा अभिप्राय केवल वैदिक सिद्धांत को समझाने में है एक के विज्ञान से सबका विज्ञान और दृष्टांत है दृष्टांत क्या है सोने के ज्ञान से सोने में चाहे जितने जेवर बनाए जाए जितनी शकल सुंदर बनाई जाए अगर सोने की पहचान हो गई तो सबकी पहचान हो गई हमारा मतलब शकल सूरत में से नहीं है सोना से है मिट्टी के विज्ञान से सबका विज्ञान लोहे के विज्ञान से लोहे से बनी सब वस्तुओं से विज्ञान तो यदि ये सृष्टि ईश्वर से बनी हुई नहीं होती जेवर में सोने की तरह और गारों में लोहे की तरह और भरे कटोरे आदि में माटी की तरह यदि इस संसार में ईश्वर न होगा ईश्वर ही सब बना हुआ न होगा तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती इसलिए तुम्हारे असंग से सृष्टि हुई है तुम्हारा दृष्टि ही इस सारी सृष्टि का कारण है दृष्टा ने अपनी आप से ये दुनिया बनाई है कि असंग ने अपनी असंगता से इस दुनिया को बनाया है तो असल में सिद्धांत जो है उसकी व्याख्या होती ही सब है जब हम बनवा देख के जता यशोदा जायते जिससे सबकी उत्पत्ति हुई स्थिति हो रही है जिसमें सब दिन डोल रहे हैं और जिसमें सब जाते समा जाते हैं वो परमेश्वर कौ है तो यदि वही परमेश्वर श्री कृष्ण न हो तो श्री कृष्ण अलग अलग हो जाएगा सृष्टि से विलग हो जाएगा श्री कृष्ण का विज्ञान होने पर भी सर्व का विज्ञान नहीं होगा इसलिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण का इस सृष्टि के साथ क्या संबंध है ये व्याख्या करने की आवश्यकता होती है यदि श्री कृष्ण परमेश्वर है तो इस सृष्टि के रूप में वही बना हुआ होना चाहिए उसी ने ये रूप उसी ने ये रूप धारण किया है नहीं तो वेद शास्त्र के विरुद्ध सिद्धांत चला जाएगा इसी से देखो भक्तों ने इस बात को बहुत बढ़िया ढंग से पकड़ा आप वृंदावन को तो जानते हैं क्या है वहां की एक एक भूमि सच्चिदानंद धन है और लता सच्चिदानंद धन है वृक्ष सच्चिदानंद धन है वहाँ के पक्षी वहाँ के पशु सच्चिदानंद धन है वहाँ की जमुना सच्चिदानंद धन है यहाँ का सर्वत सचिदानंद घन है देखो जिसको संसार में जड़ बोलते हैं वो चेतन सचिदानंद घन ब्रह्म श्री कृष्ण का ही एक रूप है वही श्री राधा रानी के चरण चिन्ह को अपने ऊपर धारण करने के लिए हरती बने हुए जरा इस सिद्धांत को ध्यान दो ये वेदांत की कितनी व्याख्या करते है वे ही श्री राधा रानी को रिझाने के लिए मोर होकर नाचते हैं वही शोर होकर शुरू शुरू बोलते हैं वही लता बनकर फूल के रूप में खेलते हैं वही वृक्ष के रूप में फलते हैं जरा आप देखो तो क्या अर्थ हुआ इसका इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण सर्वात्मा है वही ज्योति है वही ग्वाल है वही भूमि है वही लता है वही वृक्ष है अब श्री कृष्ण की व्याख्या पूरी हुई मया सतमिदम सरदार आप ये नहीं समझना कि श्लोक टूट गया श्लोक में आपकी बुद्धि के अवतार के लिए हम ये बात सुना रहे हैं ये बाइबल के सिद्धांत के विलक्षण है उसके साथ हाथ जोड़ना ये कुरान शरीफ के सिद्धांत से भी अलग है ये निराकारी लोग जो है ना ये साउथ के उपनिषद से भी ज्यादा साउथ की किताब पढ़ते हैं ना तो ये साव के शून्य से विलक्षण है ये तो बहुत विलक्षण सिद्धांत है अच्छा एक एक और पुराण की तो कथा आपको सुना देते हैं आप लोग भले जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं कि की कहानी पढ़ते हैं और उसमें रंग जाते हैं वो तन्मय हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते हमने तो वो क्या हम्म, चंद्रकांता और चंद्रकांता और चंद्रकांता संपति और भूतनाथ हमारे बनारस की तो उपज है ना सर हाँ बनारस का दिमाग कितना तेज होता है उसका नमूना है वो बनारसी दिमाग में से निकले थे चंद्रकांता और चंद्रकांता संपति और भूतनाथ कितने तिलक माटी उपन्यास कितने जासूसी उपन्यास महाराज उसको पढ़ के लोग मजा देते हैं हम आपको कहते हैं आओ एक पुराण की कहानी पढ़ो आपको कहानी नहीं मिलती है प्रशांत नहीं मिलता है चुटकुले नहीं मिलते हैं पद्म पुराण के साताल खंड में ये कथा है एक बार भगवान शंकर ने भगवान शंकर ने तपस्या की कि हमको श्री कृष्ण भगवान का दर्शन तो दर्शन तो होता था दोनों मिलते जुलते से बातचीत करते थे बोले नहीं नहीं जो रहस्य दर्शन जो नित्य निकुंज में लीला करता है जहाँ सत्ता की ओर ध्यान नहीं जाता है और ज्ञान की ओर भी ध्यान नहीं जाता है जहाँ उनके केवल आनंद रस अंश का ही अनुभव होता है योग में केवल ज्ञान का अनुभव होता है और धर्म में केवल सत्ता का अनुभव होता है और भक्ति में भगवान के स्वरूप में जो आनंद रस है उसका अनुभव होता है ब्रह्माकार वृत्ति से चिदंत का अनुभव होता है शांत वृत्ति से सदंत का अनुभव होता है और प्रेमयी वृत्ति से प्रेमयी वृत्ति से रसांश का आनंद रसांश का अनुभव होता है तो शंकर भगवान ने कहा समाधि लगा के मैंने सत्ता देख ली और अपनी असंगता से उसका देख लिया और तो हम उस आनंद रस को देखना चाहते हैं जहाँ प्रेमी और प्रियतम का भेद नहीं होता जहाँ आलम्बन और उद्दीपन दोनों के रूप में एक आनंद ब्रह्म रहता है आपने रूप में समझा आनंदो ब्रह्म ये जाना आनंदा खंडमान भूतानी आनंद

शंकर जी को तो विष्णु नारायण कृष्ण ब्रह्मा सब मिलते थे सीता राम वो बोले नहीं महाराज हम वो चाहते हैं कि वो नित्य निकुंज में जहाँ किसी का प्रवेश नहीं है वहाँ आप ब्रह्म रूप से कैसे रहते हैं निर्गुण ब्रह्म का हम दर्शन करना चाहते हैं उसका नाम निर्गुण ब्रह्म है क्यों भाई निर्गुण को आपको बता दें भक्तों की भाषा बड़ी विचित्र होती है निर्गुण माने शरीर पर एक भी सूत न हो बिल्कुल लंबे से निर्गुण बोलते हैं गुण माने रस्सी गुण माने सूत गुण माने भक्ता निर्गुण माने जहाँ भगवान बिल्कुल निरावरण अब निराकरण कहते हैं तो अच्छा लगता होगा लेकिन निंदा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता होगा है ना यही देखो शब्दों की शब्दों का इसी को बोलते हैं कि आप ब्रह्म का निरावरण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कहा महाराज आप मंदिर कृष्ण को देखना चाहते हैं नहीं राम राम राम चीज है ऐसे तो हमारी दृष्टि खराब हो जाएगी अरे बाबा निरावरण करने पर तुमको चाहिए है और नग्न करने पर नहीं चाहिए ये क्या बात है सभी तरह की बताने ऐसे कृष्ण काम दर्शन करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ तुम तपस्या कर रहे हो शंकर जी वहाँ तो इस निर्गुण रूप का दर्शन करना संभव नहीं है तुम वृंदावन में आना ये परम पुराण होता है अच्छा वृंदावन में शंकर जी महाराज आए जो महाराज शंकर जी जब आए तो उनके सामने राधा कृष्ण जुगल सरकार मुगल सरकार जल बनिया डाले मस्त गति से चलते हुए नृत्य के साल पर पाठ विन्यास करते हुए प्रेम भरी चित्रण को देखते हुए मंद मंद मुस्काते हुए पीताम्बर नीलाम्बर फहराते हुए जो शंकर भगवान के सामने आके खड़े हुए शंकर ने कहा हमको तो निर्भय चाहिए महाराज तो कठिन है बोले कि भाई इसी का नाम निर्गुण ब्रह्म है ममान ये शब्द है पद्म में ममान बोले थे शंकर जी महाराज शंकरी शक्ति के रूप में जब प्रकट हुए तो हमें बताना दूसरी बात है ये तो आपका मन आ जाए भगवान की लीला में संसार को छोड़कर लीला में चले और लीला को छोड़कर हाँ, भगवान के स्वरूप को समझे ये जो हमारे भगवान है मया सतमिदम सर्वम जगत मूर्ति मत करो राग मत करो द्वेष मत करो मोह इधम जगत ये जगत क्या है भगवान ने कहा मया सताम मैंने ही इसका विस्तार किया है तत्व माने फैलाया है ताना बाना ये जगत माने हल्का हुआ एक वस्त्र है और इसका ताना भी है और पाना भी है मेरा देखो इस पर चिड़िया है इस पर पेड़ पौधा है इस पर लता है इस पर फूल फल है सब वस्त्र में बना हुआ है इसको खाने वाला है इसको तोड़ने वाला है और उसमें हवा चल रही है बरस रहा है परंतु ये सब कौन है कि ये सब सूत्र है तो सूत्र कौन है समया सताम उसका नाम है ये अहम का अस्मत का मया होता है मेरे द्वारा मुझसे मैं फैलाया है और मैं ही फैलते रह रहा हूँ मैं ही इस जगत का मसाला और मैं ही हूँ जिसको फैलाने वाला जपो जैसे मकड़ी अपने पेट में से जाला निकालकर फैला देती है और उस जाले पर खाती है पीती है नाचती है खेलती है कूदती है और फसल जब उसकी मर्जी होती है तो जाले को निगम लेती है मया सतम सर्वम जगत अब अव्यक्त का खेल देखिए गीता में अव्यक्त माने अव्यक्त माने एक तो होता है प्रकृति आपको तो मालूम गीता पढ़ते हैं इतना विश्वास तो हमको करना ही पड़ेगा अगर भारतीय होकर आपने कभी गीता नहीं पढ़ी हमको तो कहते हैं मनुष्य होकर जिसने गीता नहीं पढ़ी तो उसने एक बहुत बड़ा शुभ अवसर अपने जीवन से खो दिया और भारतीय होकर गीता नहीं पढ़ी तो वो तो है गीता माने समग्र वेदांत का सार भागवत का बीज गीता माने अठारह हजार गीता और अठारह हजार भागवत के श्लोक तो अठारह हजार का बीज है अठारह अध्याय अच्छा तो आप गीता में कहते हैं अव्यक्ता व्यक्त अव्यक्त से व्यक्ति होती है यह वर्तमान प्रकृति है और वो तो अध्यक्षमान ईश्वर गीता में अभ्यर्थो कामाहु परमांगतिम यप्य निवर्तन्ते मम अव्यक्तोक्षर अव्यक्त माने अक्षर ब्रह्म अव्यक्त अव्यक्त माने ब्रह्म भी है अव्यक्त माने प्रकृति भी है जीवक्षर अनुदेश्यम अव्यक्तम परिजुता कारण कर्म अव्यक्त माने परमात्मा और दूसरे अध्याय में देखो को अव्यक्त माने आत्मा अव्यक्त माने आत्मा अव्यक्त माने जगत अव्यक्त माने प्रकृति अव्यक्त माने परमात्मा तो भगवान ने एक ही साथ में कह दिया तो एक एक परिश्रम एक जतन एक ये शायद आप लोगों को मालूम होगा संस्कृत में प्रत्येक अक्षर के उच्चारण का एक स्थान होता है और एक प्रयत्न होता है हमको मालूम है दुनिया की किसी भाषा में ये है कि नहीं पर आज तक हमको किसी ने बताया क्योंकि आप गौ कहाँ से बोलते हैं कंठ पर जोर पड़ता है कि नहीं पर चौ कहाँ से बोलते हैं गले पर जोर पड़ता है कहने तो साधु से साधु से जैसे साधु से बोला गया च और पंथ से बोला गया क्ष और और व को बोलने में क्या फर्क है बोला जाता है वो से देखो और व बोला जाता है भीतर से अंतर उसको अंतर बोलते हैं यह लवा अंतर का बड़ी मामूली बात है संस्कृत भाषा में ये पहली किताब लघु गौरी के भी पहले प्रकरण में ये बात आती है और हमको दूसरे अल्पप्राण महाप्राण इस संवार विवार नाद घोष कौन सा अक्षर बोलने में मुंह घट जाता है कौन सा अक्षर बोलने में मुंह खुल जाता है कहा नाद की प्रधानता है कहा घोष की प्रधानता है ये अक्षरों के उच्चारण है जिनको किसी दूसरी भाषा के पंडित ने शास्त्री ने ये बात बताई नहीं कि हाँ, उनकी भाषा में भी इस स्थान का प्रयत्न का विचार भगवान ने एक समय अव्यक्त शब्द का उच्चारण किया वो कहते हैं जगत हमारी मूर्ति है जीव हमारी मूर्ति है प्रकृति हमारी मूर्ति है परमेश्वर हमारी मूर्ति है और व्यक्त मूर्ति मैं ही सर्व के रूप में प्रकट हुआ हूँ यदि दर्शन नहीं होगा तो आपका धर्म केवल अंधविश्वास हो जाएगा बिना दर्शन के धर्म अंधविश्वास है बिना दर्शन के भक्ति अंधविश्वास है बिना दर्शन के योग अंधविश्वास है सिद्धांत का साक्षात्कार यदि आपको नहीं है तो आप पूजा कर सकते हैं उपासना कर सकते हैं एक दिन अभी दस पांच दिन के भीतर ही वो तो एक लड़की अमेरिका से आई थी तो उसने कहा कि महाराज योगा बताओ तो मैंने पूछा कौन सा जोड़ा तुमको हैं तो वो बोले कि कैसे बैठे कौन किस आसन से बैठने पर कौन सा रोग दूर होता है स्वास्थ्य कैसे ठीक होता है प्राणायाम कैसे करना चाहिए और आसन कैसे करना चाहिए मैंने कहा भाई ये यहाँ हेल्थ सेंटर है हाँ। है ना हाँ, उसमें तुम चली जाओ और ये योगा वहाँ जाके सीखो हम लोग को निष्काम कर्म योग जानते हैं भक्ति योग जानते हैं अष्टांग योग जानते हैं ज्ञान योग जानते हैं राजा विराज योग जानते हैं महाराजा विराज योग जानते हैं परंतु ये योग कवायदी योग को हम नहीं जानते इसमें कवायद करने पड़ते हैं वो तो स्वास्थ्य विभाग का काम है हेल्थ एक आसन हम बता देंगे कि इसको बैठ करके ध्यान करो तो महाराज शास्त्र में खड़ा होकर प्राणायाम करने का बड़ा महत्व है आप ही छूटने का डर रहता है आप जो है ना नीचे उतर जाए बड़ा भारी भारी डर रहता है तो खड़ा होकर प्राणायाम करने का निश्चय है जो की बात आ गई तो आपको सुना देता हूँ और दस आदमी एक साथ यदि खड़े होकर या बैठ कर सांस लें तो ये जो श्वास सम्मेलन होता है हाँ, हाँ, तो होगा तो एक के सांस जो दूसरे सांस में मिलती है दूसरे के साथ जो तीसरे के साथ में मिलती है वो अपने साथ रोज भी ले जाती है हाँ, एक साथ दूसरे को लग जाता है तो नारायण बहुत समझ बूझ के सब ये साधन करना पड़ता है धर्म का दर्शन है भक्ति का दर्शन है योग का दर्शन है हमारे एक मित्र है वो शांति के ध्यान करते हैं और कहते हैं हाँ, हाँ क्या भक्ति आई क्या आप की ध्यान करते हैं हम ध्यान नाम ले सकते हैं उनका शांति के ध्यान करते हैं अब नशा पी के जो ध्यान करते हैं महाराज है ना उस ध्यान का फल उनको नहीं होगा उसका अगर कोई फल होता होगा तो उस नशा को होगा <laughs> और उसकी इज्जत बढ़ेगी नशे की इज्जत जरूर बढ़ेगी लेकिन न उसमें भगवान की इज्जत बढ़ेगी और न ध्यान करने वाले की कोई उन्नति होगी हाँ। वो तो स्वयं किया हुआ जो साधन है ना वो कल्याणकारी होता है तो ये बहुत बड़ा योग आपको पक्ष में योग मंच है आपने इस योग का नाम कभी सुना है इसका नाम है ऐश्वर योग ऐश्वर योग कौन ऐश्वर्यशाली जो परमेश्वर है वो ऐसे खींच करके हमको अपने हृदय से लगा रहा है हमारे प्राणों को अपने से एक कर रहा है हमारी आत्मा को अपने आप से मिला रहा है और व्यक्त मूर्तिमा वही ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ वही प्रकृति के रूप में प्रकट हुआ वही जीव के रूप में प्रकट हुआ वही जगत के रूप में प्रकट हुआ और ऐसे जो अद्वितीय परमेश्वर इसका नाम है ईश्वर जो समाधि में बैठ के नहीं गुफा में बैठ के नहीं वैकुंठ में जाकर नहीं चलते फिरते ईश्वर दिखाई पड़े काम करते ईश्वर का दर्शन हो खाते समय ईश्वर मिले और बच्चा खिलाते तुम्हें ईश्वर मिले पति से प्रेम करते तुम्हें ईश्वर मिले माँ बाप की सेवा करते तुम्हें ईश्वर मिले लोग कल्याण करते तुम्हें ईश्वर मिले हर हालत में हमको ईश्वर मिले ये सब होगा जब आप हर हालत में ईश्वर को पहचान लेंगे ये है गीता का गीता का व्यावहारिक योग इसका नाम ऐश्वर वेदांत की शिक्षा ये नहीं है कि ब्रह्म जहाँ नहीं रहता वैकुंठ में रहता है वेदांत की ये शिक्षा नहीं है कि वो बाहर नहीं रहता है समाधि में रहता है वेदांत की ये शिक्षा नहीं है कि वो नीचे नहीं रहता है पहाड़ में रहता है वेदांत की ये शिक्षा नहीं है वेदांत की शिक्षा ये है कि ईश्वर ने सबको आत्मसात कर रखा है उस परमात्मा के सिवाय मैं तुम या वह जगत जीव ईश्वर प्रकृति ये सब कुछ परमात्मा से अलग नहीं है मत स्थान सर्वभूता नहीं न चाहम के सारी दुनिया दिख रही है उसमें परंतु जीव की नजर से देहाभिमानी की नजर से परमेश्वर की नजर से नहीं है न तो मत्स्थानुभूतानी अज्ञानी की दृष्टि से ये प्रपंच परमेश्वर में है और ज्ञानी की दृष्टि से परमेश्वर ही है प्रपंच नहीं है ये विद्या महाराज ये गीता सिखा रही है और साहू चाचा की बात सुनोगे और भेद की बात सुनोगे ये कायु शब्द का प्रयोग बहुत पादाचार्य ने किया है बहुत पादाचार्य का कहना है कि सद्वैत ब्रह्म में काई का जो मत है यह से देखा जाता है काई ताई का ज्ञान नैसत बुद्ध से ताई नहा संक्रमते जाते जो साई है और उसका ज्ञान हमारे ज्ञान को छू नहीं सकता है क्योंकि इसमें आत्मा का बाद नहीं है उसकी अद्वितीयता का निरूपण है और साई के ज्ञान में आत्मा का ही बाद है वो बिल्कुल अनुभव के विरुद्ध है बहुत पदाचार्य ने ऐसा कहा और तो नया सतनगम सर्गम सर्वभूतानी कल मैंने वेदांत की बात जरा ज्यादा कर दी ना तो शर्मा जी बहुत खुश हुए बोले वाह वाह वाह ऐसा आप देशपाल में क्यों नहीं सुनाते हैं ऐसा कह रहे थे शर्मा जी मैंने कहा कि भाई ये शर्मा जी को खुश करने में कहीं हमारे और लोग नाखुश न होगा <laughs> क्योंकि उनके जिंदगी भी तो बात करिए ना तो इसलिए मैंने आज आपको जगह जगह दुनिया से मन खींच करके पहले भगवान की लीला सुनाई और फिर ये भगत लोग क्या करते हैं कि भगवान के रूप से तो बड़ा प्रेम करते हैं परंतु उनकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और ये वेदांति करते हैं ये भगवान की बात को तो खूब समझने की कोशिश करते हैं लेकिन भगवान के रूप से प्रेम नहीं करते एक बात आपको सुना दें हम लोग कहीं जाते हैं खास जहाँ वेदांति लोग होते हैं तो वहाँ चार घंटे सत्संग करें प्रश्नोत्तर करें परंतु खाओगे क्या ये नहीं और भगत लोग महाराज ऐसा खिलाते पिलाते हैं कि कहते नहीं महाराज आप भूलिए मत तो आपको तकलीफ होगी जबान पर सारे लगा देते हैं <laughs> तो और एक कल Yes,

साधन जो किया जाता है उसका दृष्टिकोण जुदा और जो सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार होता है उसका दृष्टिकोण जुदा तो कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं का अर्थ तात्पर्य हम अपनी स्थिति के अनुसार ही समझते हैं उसका जो सच्चा अभिप्राय है वो तब तक हम समझ ही नहीं सकते जब तक उसको समझने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आ जाए लाख कोई बच्चा रहे तत्वमसी तत्वमसी तत्वमसी दूध सुनेगा जथा सुनेगा बैल सुनेगा उसको क्या बोध हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ जब योग्य व्यक्ति उसको सुनेगा तो तत्काल श्रम मात्र से बोध हो जाएगा वेदांत का कहना ये है जो मुक्ति है वो आत्मा का स्वरूप है वो किसी धर्म से किसी उपासना से किसी योग से किसी साधना से उत्पन्न करने की वस्तु नहीं है उसके मिलने में कुछ देर है या मुक्ति कुछ दूर है या मुक्ति अप्राप्त बड़ाई मालूम करती है मुक्ति मिलती थी मुक्ति मिलने में अभी देर है तो मुक्ति जरा हमसे दूर रहती है मुक्ति कोई हमसे अलावा दूसरी चीज है ये तीनों क्रम उसको बोलते हैं क्रम ये तीनों प्रकार के भ्रम केवल अपने स्वरूप को न जानने के कारण है तो यदि कोई ऐसी अज्ञात व्यापक और स्वरूप विषय अविद्या को निवृत्त करने वाली प्राणाम श्रुति अपने कानों में पड़ जाए तो तत्काल अविद्या की निवृत्ति हो जाती अब हमारी भूमिका का एक साधारण साधक है उसने सुना मेरा पत्नी बनी करना एक भगवान का प्रेमी है उसने सुना मेरा पत्नी बन करना एक अपरोक्ष अनुभवी है उसने सुना मेरा बन करना है तो इस बात के श्रवण का जो प्रत्याघात होगा प्रतिक्रिया होगी बाहर से जाएगा बात एक तलवार लगेगी तो तलवार की चोट तो यदि आत्मा तक पहुंच जाएगी वो चोट तक तो तलवारें टूट जाएगी और यदि वो तलवार बनी रहती है तो समझना कि अभी निशाने तक पहुंची है तो हमारे जितने बाबू लोग हैं कहते हैं कि हाँ सुन लिया समझ लिया ज्ञान बहुत अच्छी चीज है परंतु दृष्टि उसमें टिकती नहीं है तो ये जिनकी वृत्ति नहीं टिकती है उनकी तलवार अभी बिल्कुल निशाने पर लगी नहीं है लगने के बाद वृत्ति कितने का कोई सवाल नहीं रहता है तो हम लोग अपनी स्थिति से ही इस कथा को प्रारंभ करते हैं मया प्रसन्न सर्वाम श्री कृष्ण कहते हैं ये सारा विश्व मुझसे तट है जो लोग संसारी हैं संसारी है माने क्या होता है जो अपने को पापी पुण्यात्मा के चक्कर में रखता है मैं पापी हूँ पुण्यात्मा हूँ वो संसारी है और जो अपने को सुखी दुखी होने के चक्कर में रखता है सभी संसारी है और जो अपने को राजू जैसे देसी होने के चक्कर में रखता है तो भी संसारी है आत्मा न पापी है न पुण्यात्मा है न राजी है न देसी है न सुखी है न दुखी है और न स्वर्ग नरक में आने जाने वाला है न इसका जन्म और मरण है परंतु संसारी लोग मान मान बंधन में आए मान मान करके कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं बेटे वाला हूँ मैं बाप वाला हूँ मैं शरीर वाला हूँ मैं पाप वाला हूँ सुन वाला हूँ ये वाला तो ऐसे ही है कि जब तक वेस्ट की दुकान करते हो तब तक वेस्ट वाला होगा और कपड़े का दुकान करने लगे तो सातड़िया हो गए अरे मनुष्य तो मनुष्य ही है चाहे वो सामान्य हो चाहे कातड़िया हो जल्दी का जब तक मनुष्य अपने साथ कोई ऊंच जोड़ के रखता है सख्त जोड़ करके रखता है तब तक सामान्य मनुष्य के रूप में अपने आप को नहीं जानता है हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है इसकी कमी है उसकी कमी है ये सब अपने शरीर को मजाने से होता है तो बोले भाई हमको सचमुच ईश्वर की ओर चलना चाहता है तो भगवान करे तुम्हारे मन में जी सकता अब आजकल तो भी डॉक्टर से इजाजत लाकर लेके डालने पड़ेगी अगर तुम सचमुच ईश्वर की ओर चलना चाहते हो तो जरा नया सचनिबन सर्वन का आप समझो यहाँ से तुम्हारा धर्म प्रारंभ होगा उपासना प्रारंभ होगी ज्ञान प्रारंभ होगा तो पहले धर्म वाली बात सुना गीता में नया तत्मिदम सर्वम से धर्म का भी भरण कहते हैं यत प्रवृत्तिर्भूतानाम जेन सतम जेन सर्वमिदम सतम स्वकर्मणा पृथ्वीं बंधतीनामलः तो जन सर्वनिदम कथम और मया कथमिदम सर्वम में क्या फर्क है यहाँ मया है वहाँ जैन है यहाँ साक्षात लक्ष्मी है माँ और यहाँ जापानी शिक्षा जैन हम सिद्धि में और लक्ष्मी में जितना फर्क होता है उतने दोनों में फर्क है तो बोले कि ईश्वर की उपासना कौन करे बोले मानव ईश्वर की उपासना में चांगाल और ब्राह्मण दोनों का बराबर अधिकार है एक महाराजा है उनके मंगल के लिए ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा है तो उनका मंगल कर रहा है और वे जिस मार्ग से चलते हैं उस पर झाड़ू लगा रहा है कोई तो वो भी उन्हीं की सेवा कर रहा है तो वेद पाठ करने वाला भी महाराजा की सेवा कर रहा है और झाड़ू लगाने वाला भी महाराजा की सेवा कर रहा है तो पहली बात ये ध्यान में रखने की है कि मनुष्य मात्र भगवान की भक्ति का अधिकारी है मानव जैसे शब्द श्लोक में आखिरी है मानव और हम उसको पहले गए हैं जो मनु की संतान है चाहे अमेरिका में पैदा हो अफ्रीका में पैदा हो यूरोप में पैदा हो एशिया में पैदा हो कहीं भी पैदा हो हस्तपादाभिमान जो आकृति विशेष है उसको मानो तो हाथ है काम है खड़ा होकर चलता है पढ़ता है लिखता है आविष्कार करता है आनंद में रहता है उसका मान रहा है अच्छा अब आप देखो दूसरी बात ईश्वर की पूजा कैसे होती है तो बोले स्वकर्मा जो तुम्हारी देवी है उसी के द्वारा ईश्वर की पूजा करें ये हो गया धर्म यदि आपकी बुद्धि ईश्वर के बारे में काम करती है तो ज्ञान हो गया और यदि आपकी एकाग्रता ईश्वर के लिए काम करती है तो दूर हो गया और यदि आपका प्रेम ईश्वर के लिए होता है तो भक्ति हो गई और यदि आप काम करते हैं ईश्वर के लिए तो धर्म हो गया तो ये सब इसके गणित चिन्ह इसके फार्मूले हैं आप अपना काम कर रहे हैं किसके लिए हमारी श्रीमती जी को जाने तो बात कहा भी सही तो हो गई और भाई हमारे सेठ जी को हो जाए ये बात भी सही हो गई कोई मिनिस्टर की सजा ये बात भी सही हो गई आजकल तो धर्म के नाम पर निकाला हुआ पैसा भी मिनिस्टरों को तो दे दे के खुश करते हैं धर्म एक और गया धर्म के लिए निकाले हुए पैसे में देना नहीं और वो खुश होकर कुछ दे नहीं सकते अधिकार भी नहीं स्व कर्मणा समझ्य सिद्धि बंदती मानवा मनुष्य है भगवान की आराधना का अधिकारी और अपने कर्म में जो ईश्वर का अवतार है उसके द्वारा भगवान की आराधना होती है इसके लिए सतमय देवाय हमेशा विधेय तुम किसके लिए कर्म करते हो तो बनी तो रोज बहुत दूर दूर तक रास्ते पर झाड़ू लगा इसके तो लिए झाड़ू लगाते थे आज घर रामा आज हमारे घर में रामचंद्र राम के लिए झाड़ू लगाते थे सबरी देखो देखो पन्ना आज घर रामा है तो उसका झाड़ू लगाना भगवान की पूजा है कि नहीं है पूजा तो करना अच्छा अब वो कौन है जिसकी पूजा करी जाती है तो अब उसका वर्णन सम सम उसकी पूजा सिद्धि कम अध्यक्ष इसकी पूजा ये कर्म किसके लिए ये धर्म किसके लिए सत्मय देवाय हविकार हे न ये तस्मय देवाय हविकार हे न आप किसके लिए सेवा पूजा करते हो बोले उस एक के लिए नारायण अवधान दीजिए अवधान वह कौन यथ प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्व निगम कथम ये नया कथम का एक अर्थ है संसार के सब प्राणी जिसकी वजह से प्रवृत्त होते हैं अपना अपना काम करते हैं पृथ्वी विश्व हारिणी पृथ्वी तक को धारण करते हैं जल सबको तृप्ति देता है जिसकी वजह से सूर्य सबको रोशनी देता है वायु सबको सांस देती है आकाश सबको घूमने फिरने देता है अपने भीतर गत प्रवृत्ति है अरे ऐसे नहीं आपके हृदय के भीतर एक ऐसी चेतन शक्ति विराजमान है जो आपके हृदय के मशीन को घुमाती फिराती है प्रवृत्ति निमित्त कारण उसको बोलते हैं निमित्त कारण अंतर्यामी यथ पद का अर्थ है कि जिसको घुमा रहा है उससे अलग है और घुमा रहा है तो वो जाने से किसकी आराधना कर रहे किसकी पूजा कर रहे हो बोले हम नहीं जानते बाघ और नहीं जानते बकरी और नहीं जानते आदमी और नहीं जानते पक्षी चिड़िया पशु तो तक तो जो सबके दिल में बैठ करके सबको मचा रहा है यह प्रतिज्ञान तिष्ठन प्रतिदिन थे धरती में रहकर धरती का नियंत्रण करता है और विज्ञान तिष्ठन विज्ञान जनोती हमारे हृदय में रहकर हृदय को नियंत्रित करता है ऐसा चुंबक जो सबके हृदय में